ओमाप्यायन्तु ममाङ्गानि वा प्राणश्चक्षु श्रोत्रमतो च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्मोपनिषदम् माहम् ब्रह्मया प्रिय परिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ खंड के तृतीय मंत्र का कुछ विचार हुआ देवताओं ने देवता लोग मृत्यु से डर करके जो स्वाभाविक कर्मादि होते हैं उसको मृत्यु कहा गया है स्वाभाविक वृत्ति शास्त्रीय वृत्ति नहीं उससे डरते हुए वैदिक कर्म का सहारा लिया देवताओं ने तीन वेद विहित कर्म ऋग यजुषाम विहित कर्म का शरण लिया मैंने कर्म करते हुए समय काटने लगे किंतु वहां भी मृत्यु ने उनको देख लिया जैसे जल के भीतर मछली को मछुआरा देख लेता है और सोचता है माने जाल आदि के द्वारा मैं निकाल सकता हूं समय पर उपाय सोचता है इसी प्रकार मृत्यु ने सोचा जिस काल में कर्म का छिद्र होगा कर्म समाप्ति होगी उस काल में मेरा प्रवेश का समय आ जाएगा ऐसा सोचा किंतु शास्त्रीय कर्म करते हुए चल रहे थे देवता लोग उनका अंतकर्म शुद्ध हो गया था तो उनको पता लग गया मृत्यु ने हमको देख लिया यहाँ इन कर्मों के सहारे से रहने से काम नहीं चलेगा ऐसा सोच करके उन कर्मों से ऊपर उठ करके स्वर के शरण में गए माने ओमकार के शरण में गए ओमकार के उपासना करने लग गए ये कहा था ओंकार की महिमा बता रहे हैं तो यही कहना चाहते हैं आगे के लिए टीका में कहते हैं उदात्तादि रूपत्वाभावात अक्षर से न शब्द शब्दत्व इतिहास के पर्याय स्वर तो कहा गया है उदात्त अनुदात्त स्वरित को स्वर कहा है उच्चर उदात्त निचर उदात्त समाहार स्वरित व्याकरण में ऐसे सूत्र है स्वर उसको बोलते हैं तो ये ओंकार में उदात्त अनुदात्त तो कोई कुछ भी धर्म नहीं दिखता तो कैसे स्वर कहा इसको स्वरम एवं प्राविशन कैसे बोल दिया उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि को स्वर बोलते हैं व्याकरण पढ़ने वाले लोग तो इसको स्वर कैसे कहा यही शंका है उदात्तादि रूपत्व अभाव उदात्त अनुदात्त सूर्य तत्व कोई धर्म नहीं यहाँ अक्षर से जो अक्षर ओंकार है उसमें कोई धर्म न होने से न स्वर शब्दत्व इसमें अक्षर में स्वर शब्द का अर्थ नहीं आ सकता है ये शंका आ गई तो इसका उत्तर करते हैं कथम ये शंका है उत्तर देंगे मंत्र से स्वर शब्द से कहा जाता है कहने के लिए शंका में है कथम पुनः स्वर शब्द वाच्यत्व अक्षर से उच्चते कहा कैसे ये जो अक्षर है ओंकार है माने अक्षर न अक्षर अतिथि अक्षर ऐसा होता है अक्षर परमात्मा होता है उसी का वाचक होने से इसको भी प्रतीक होने से इसको भी अक्षर बोला है न अक्षर अतिथि अक्षर अक्षर शब्द का ही अर्थ होता है जिसका नाश नहीं होता वो अक्षर है मुख्य अक्षर वही होता है परमात्मा है तो उसके ये प्रतीक है वाचक भी है इसलिए उसको अक्षर कहा कथम पुनः स्वर शब्द वाच्यतम अक्षर से प्रश्न आया स्वर शब्द का वाच्यता कैसे यह अक्षर में ओंकार को स्वर कैसे कहा ये प्रश्न आया था उच्चते ग्रंथ से आगे मंत्र से उत्तर देते हैं ये कहा मंत्र से उत्तर देंगे मंत्र है यदा ओम इतवाति सुरती एवं साम एवं यजु ये सौ स्वरो अक्षरम ये तद अमृतम अवयम तत्प्रविश्य देवा अमृता अवया अभवन यदा आपनोति रोमित्येव अतिस्वरति एवं सामैवं यजुः ये सौ स्वरो यदेतदक्षरम एतद अमृतम अभयम तत्प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन तो अक्षर को स्वर कैसे कहा स्वर तो उदात्तादि होते थे ऐसे शंका आई थी तो उसका उत्तर दे रहे हैं यदा बई रिचम आपनोती बई है आया आदेश होकर के लोक रखा है जब प्रसिद्ध है ऋचा को प्राप्त करता है अध्ययन करने वाला व्यक्ति जब मंत्र प्राप्त करता है ऋचा प्राप्त करता है ऋग्वेद का मंत्र प्राप्त करता है तो ओम इतव अतिस्वरती कहते हैं ओम ऐसा करके आदर पूर्वक ग्रहण करता है जो गुरु से शिष्य मंत्र प्राप्त करता है ऋग्वेद का मंत्र ओम ऐसा उच्चारण पूर्वक पहले ओमकार लगाएगा उसके बाद उसको ग्रहण करता है उस मंत्र को ग्रहण करता है अतिस्वरती का अर्थ अतिशयन आदरित्व उच्चारित ऐसा अर्थ है श्री शब्द उपताप है श्री धातु शब्द करने अर्थ में और उपताप रोग अर्थ में दो अर्थ होता है श्री धातु से स्वर बनता है तो आदर पूर्वक उसका उच्चारण करता है जो गुरु जी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो शिष्य ओम ऐसा लगा करके उच्चारण क्यों वेद मंत्र बिना ओम का उच्चारण नहीं करते ओम घटित होता है आदि अंत में ओम लगता है वेद मंत्र के उच्चारण में तो क्या यदा वही रिजम आपनोति जब ऋग्वेद के मंत्र प्राप्त करता है माने अध्ययन करने वाला अध्यता तो ओम इति एव अतिस्वरती ओम ऐसा उच्चारण करते हुए उस मंत्र को आदर पूर्वक लेता है ओम ऐसा उच्चारण करता हुआ आदर पूर्वक उच्चारण करता है ओम का अब एवं साम एवं रेजु इसी प्रकार साम वेद के प्राप्त करेगा जब अध्ययन करने वाला विद्यार्थी जो प्राप्त करता है गुरु से उस काल में ओम ऐसा बोल करके आदर पूर्वक लेता है और इसी प्रकार यजुर्वेद के मंत्र प्राप्त करते भी ऐसे करता है इसी प्रकार ओम ऐसा उच्चारण पूर्वक आदर पूर्वक उसको उच्चारण करता ओम शब्द पूर्वक उच्चारण करता है तो ओम की महिमा ऐसे ये स्वर है वो उच्चारण करता है या सूर्य धातु से स्वर बना है उच्चारण करता है आदर पूर्वक उच्चारण होता है इसलिए स्वर कहा उसको या उदात अनुदात सूर्य ऐसा धर्म नहीं है तो आदर पूर्वक उच्चारण करता है कोई भी मंत्र बोलने के पहले यही और अंतिम में यही इसलिए ये श्रुय धातु है शब्द और उपताप दो अर्थ में स्त्री धातु गति अर्थ में भी है यहां पर शब्द अर्थ में है शब्द करता है अर्थ में ये कहना ये जो ऐसा वो स्वर स्वरो माने अपी ऐसा स्वर जिसको बोलते हैं यही है ये उपकारी है स्वर स्वर ऊ माने अपी ऊ शब्द यहाँ अपी अर्थ में है स्वरो अपी स्वर भी जो स्वर कहते हैं ये यही है कौन ओम ये कहा स्वरो ऊ ऐसा ऐसा करना ऊ का अर्थ अभी है स्वर भी यही है यही इस प्रकार कहा आगे कहते हैं यदि तद अक्षरम इसी को अक्षर कहते हैं न नक्षरती अक्षरम ऐसा होता है अक्षर शब्द परमात्मा के लिए मुख्य प्रयोग होता है मुख्य प्रयोग उसका कभी नाश नहीं होता कोई अक्षर न क्षरती थे अक्षर किंतु उसके प्रतीक है वाचक है इसलिए अक्षर इसको भी अक्षर कहा यदि तद अक्षर यही ओंकार ही अक्षर है ये तद अमृतम अभयम यही अमृत है माने अमृत प्राप्ति के साधन यही है परमात्मा अमृत है अमर है उसकी प्राप्ति का साधन यही है इसलिए सारे कर्मों का परित्याग करके सन्यासी बन करके इसी के शरण में जाते हैं लोग सन्यासी लोग कहा यह तत् अमृतम अमृत प्राप्ति के साधन है इसलिए इसको अमृत कहा ये तद अवयम यही अवय है माने अवय प्राप्ति का साधन भी यही है तो परमात्मा प्राप्ति होगी तो अवय होगा परमात्मा प्राप्ति का साधन यही है इसलिए ये तत् अमृतम ये तत् अभयम कहा देवता लोग इसी से तत्प्रवेश देवा अमृता अभय अवम देवता लोग इसी ओंकार में जब प्रवेश कर गए तब अमर हो गए अमृत हो गए कर्म से नहीं हो पाए कर्म तो मृत्यु ने देख लिया था इसलिए कर्म कर्मकांड संबंधी वेदों से ऊपर उठ करके ओंकार के शरण में चले गए तो तत्प्रविश्य माने उसमें प्रवेश करके उस ओंकार में प्रवेश करना माने उसके अनुष्ठान करना उपासना किया जापादी किया ऐसा करके देवा देवता लोग अमृता अभया भगवान देवता लोग अमर हो गए अमृत हो गए ये कहा भाष्य में कहते हैं यदा वही ऋतम आपनौती ओम इतव अतिश्वरती जब शिष्य जो है जब ऋग्वेद के मंत्र प्राप्त करता है गुरु जी से प्राप्त करता है गुरु जी उच्चारण करेगा तो प्राप्त करेगा उस काल में जब ग्रहण करते समय मंत्र ग्रहण करते समय में ओम ऐसा उच्चारण करके मंत्र ग्रहण करता है क्योंकि तो वेद मंत्रों में आदि अंत में ओम लगाने का विधान है और संहिता पाठ करेंगे तो शुरू में करके अंतिम में ओम बोलेंगे अध्याय पूरा होने के बाद अगर एक मंत्र ही बोलना हो जैसे पूजा आदि में करना हो तो शुरू में ओम अंतिम में ओम ऐसा लगता है वेद मंत्रों का नियम है उसके आदर के लिए यदा वही ऋचम आपनोती ओम इतव अतिस्वरती कहा जब ऋचा ऋग्वेद के मंत्र प्राप्त करता है शिष्य गुरु जी से उस काल में ओम ऐसा उच्चारण करता है आदर पूर्वक उच्चारण करता है अतिस्वरती का अर्थ अतिशयन आदरम कृत्वा की उसको बहुत आदर पूर्वक ओम का उच्चारण करता है एवं साम एवं सामवेद के मंत्र प्राप्त करता है वहां भी ऐसा ही है ओम लगा के उच्चारण करके फिर मंत्र लेता है इस प्रकार यजुर्वेदिक मंत्र भी यही है ऐसे काम करता है कहा ये ऊ स्वर स्वर ऊ माने अपी ये ऊ शब्द अपी के अर्थ में स्वर भी यही है कौन ओ जिसको स्वर कहते हैं यही है यही है वो सब कौन है वो स्वर तो आया यदि तद अक्षरम यही अक्षर को स्वर कहते हैं एतद अक्षरम एतद अमृतम एतद अभयम इत्यादि है एतद अक्षरम एतद अमृतम अभयम यही अक्षर है और यही अमृत है और यही अभय है तत्प्रविश्य उस ओंकार में प्रवेश करके देवता लोग यथा गुण में जैसा ओंकार में गुण था क्या गुण था अमृत और अभय जैसे गुण वाले को उपासना किया वैसे वो भी हो गए देवता भी अमृत हो गया अमर हो गया यथा गुणम एवं गुणम अनतिक्रम यथा गुणम गुण को अतिक्रमण न करके जैसा गुण वाले की उपासना करेंगे वैसे ही गुण वाला हो जाएगा व्यक्ति अमृत और अभय गुण वाले की उपासना करेंगे तो अमृत अभय होता है यही है गुण यथा गुण यथा गुण अमृता अभयाश्च अवय अवयश्च अभवन देवा कहा अवयाश्च पाठ होना चाहिए अमृता बहुवचन अवया भी बहुवचन होना चाहिए बहुवचन है यथा गुणमेव अमृत अवयाश्च अभवन अवया पाठ होना चाहिए बहुवचन होना चाहिए अवयश्च नहीं क्योंकि देव, देवा देवा है ना बहुवचन है जैसे गुण है ओंकार में अमृत अवय गुण वाला ओंकार इस प्रकार उस ओंकार की उपासना करने से देवता लोग भी अमृत हो गए अमर हो गए और अभय हो गए ये कहा देवा ठीक है रिचम आपनोति अध्ययन स्वाधीनाम कर रिचम जो तो ऋग्वेद प्राप्त करता है मतलब अध्ययन के द्वारा अपने अधीन बनाना उसका कंठस्थ रखना अध्ययन के माध्यम से वही प्राप्त करना है पुस्तक में प्राप्त करना ये प्राप्त नहीं हुआ है रिचम आपनोति का अर्थ अध्ययन स्वाधीनाम करोती उस मंत्र को अपने अध्ययन के माध्यम से अपने अधीन बनाता है जब चाहे निकाल सके ऐसी स्थिति करता है अतिस्वरती है तो अतिस्वरती का अर्थ क्या है कहते हैं अतिशयन आदर उच्चार है इस ओंकार की उच्चारण करता है ऋग्वेद मंत्र उच्चारण करने से पहले अतिशय आदर पूर्वक आदर बुद्धि से इसको उच्चारण करता ओम ऐसा लगाता है ऋग्वेद सामनाम प्रत्येकम ओंकार उच्चारणाद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद कोई भी मंत्र का उच्चारण करना हो सब में पहले ओम का उच्चारण होता है वैदिक लोगों का ऐसा काम होता है जो वैदिक लोग होते हैं ओंकार के बिना कोई काम नहीं करते तस्मात तस्माद्योम क्रीड़ा सत्यायुक्तान प्रक्रिया थे विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादी नाम जो वेदवादी लोग हैं ब्रह्मवादी माने वेदवादी वेदवादियों का सारा कर्म ओंकार पूर्वक होता है गीता सप्त सत्या में कहा है ऋगजुषाम नाम प्रत्येकम ओंकार उच्चारण द्वारे नव आपके दर्शन ऋग्वेद प्राप्त करना हो चाहे शाम वेद हो यजुर्वेद हो कोई भी हो प्रत्येक वेदों में कोई भी मंत्र प्राप्त करना हो तो ओंकार उच्चारण द्वारा ही प्राप्ति देखा है मंत्र केवल मंत्र प्राप्ति नहीं होती ओंकार के साथ ही होता है आदर पूर्वक होता है इसलिए कहा ऊ शब्दों अपनी पर्याय ये सब इत्यादि में जो ये सब स्वर में जो ऊ शब्द है उसका अपि का पर्याय वाचक है मैंने स्वर अपि ऐसा स्वर भी यही है वो ऊ का अर्थ अपी है संप्रतिबन्न स्वरवत इति दृष्टान्तार्थ जैसे माने अविवादित स्वर होता है उदात अनुदाता स्वर होता है उसी प्रकार ये भी उसी प्रकार स्वर है ये कहना है संप्रतिपन्न स्वर होता है उदात अनुदात जो विवाद में निर्विवाद निर्विवाद स्वर है वो उसके समान ये भी है अमृतम अवयम तथा विद ब्रह्म प्रतीकत्वाद एक ओंकार को अमृत कहा अभय कहा क्यों कहा उस प्रकार के ब्रह्म का प्रतीक होने से उस प्रकार का ब्रह्म अमृत और अभय गुण वाला जो ब्रह्म है उसके जो प्रतीक होने के कारण ये भी अमृत है अभय है अमृतम अभयम ओंकार के लिए कहा था उसका अर्थ कर दिया तथाविध तथाविध ब्रह्म जो अमृत और अभय रूप ब्रह्म है अमर है अभय है सब ब्रह्म का प्रतीक है ये इसलिए ये भी अमृत है अभय है तत्प्रविश्य ब्रह्म बुद्धिया तद ध्यानम कृतवा कहते उसमें ओंकार में प्रवेश करके देवता लोग ही अमृत हो गए और अमर हो गए आया तो उसमें प्रवेश कैसे करें जैसे घर में देवदत्त प्रवेश करता है ऐसा घुस जाना उसमें क्या घुसना है क्या प्रवेश करना तब कहते हैं ब्रह्म बुद्धि से उसका चिंतन करना ओंकार में उसका प्रतीक है वो तो परमात्मा बुद्धि से उसमें चिंतन करना ओंकार उपकार का चिंतन परमात्मा बुद्धि से करना यही प्रवेश करना है ये नहीं कि उसमें घुस जाना घुस नहीं सकते वो तत्प्रविष्ट का अर्थ यही है उस ओंकार में प्रवेश करके देवता भी अमर हो गए तो ब्रह्म बुद्धि से चिंतन करते हुए प्रत्येक में भगवत बुद्धि करके हम काम करते हैं घर में जो मूर्तियां रखते हैं उसे भगवत बुद्धि से हम पूजा अर्चना करते हैं प्रत्येक में इष्ट बुद्धि होती है यहां भी ब्रह्म बुद्धि से ओंकार में चिंतन करना यह उसमें प्रवेश है ये कहा <coughs> मंत्र है साया एतत एवं विद्वान अक्षरम प्रणौती एतदेव अक्षरम स्वरम अमृतम अभयम प्रविशति तत्प्रविश्य यद अमृता देव तद अमृतो भवति स य एतदेवं विद्वान् अक्षरं एतदेव अक्षरम स्वरम अमृतम अभयम प्रविशति तत्प्रविश्य यदमृता देव अमृतो भवती स यह जो कोई भी हो केवल देवता लोग ही अमर हो गए नहीं और भी कोई इसकी उपासना यदि करता हो देवताओं ने जैसा किया अमृत और अभय गुण विशिष्ट ओंकार की उपासना करने से अमृत हो गया अमर हो गए अभय हो गए इस प्रकार और भी कोई करता हो मनुष्य आदि ये भी करता हो सया ये विद्वान इस प्रकार जानने वाला उपासना करने वाला ओंकार में ब्रह्म बुद्धि से चिंतन करने वाला जो होगा अक्षरम प्रणौती इस अक्षर की नक्षरती अक्षर जो ओंकार है अक्षर इसके प्रकृष्टे नौती नुस्तुत स्तुति करता है चिंतन करता है नुस्तुत से प्रणौती बना है प्र आगे नौती नू का अदादि का धातु नौती बना था प्र उपसर्ग लगा तो वृद्धि की हली वृद्धि हो गई नौती बना और यहाँ उपसर्गा आता समाज विजुणत्व हो गया प्रणवती माने स्तौती अर्थ आएगा प्रणवती का नवती का अर्थ तौती होता है तो इसका अर्थ होता है उपासते उपासना करता है यहाँ प्रणाम स्तुति करना नहीं उपासना करना है उपासना करता है योग भी विद्वान करता है क्या होगा उसका फल कहते हैं एतत् एतद एव अक्षरम स्वरम अमृतम अभयम प्रवेश वो भी इसी अक्षर में प्रवेश कर जाएगा जैसा गुण वाला ब्रह्म गुण वाला ब्रह्म है वैसे गुण वाला ये चिंतन करने से वैसे हो जाएगा ब्रह्म बन जाएगा ये कहा एतद एव अक्षरम इसी अक्षर स्वरम ये जो स्वर अक्षर है ओंकार इसी में प्रवेश करेगा मैंने ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा प्रवेश कहा तद यद अमृता देव हाँ, जो कि उसमें प्रवेश करके अमर हो गए देवता लोग यद माने यशमार उसमें जिस कारण से देवता लोग उसमें प्रविष्ट होकर के अमर हो गए तब अमृतो भवती वो भी ये भी अमृत हो जाएगा देवता लोग अमर हो गए हैं ये भी उस तरह चिंतन करेगा ब्रह्म बुद्धि से चिंतन करेगा तो ब्रह्म हो जाएगा यह अर्थ है अमर हो जाएगा ठीक है भगवतु देवानाम एवं अस्माकम तो किम चलो देवता लोग अमर हो गए हमारे लिए क्या मिला ओंकार के चिंतन किया ब्रह्म बुद्धि से देवता लोग अमर हमको क्या मिला वो लोग बड़े हो गए तो हो गया हमें क्या मिला तो शंका आई तो इस शंका को उत्तर देते हैं अरे बाबा अन्य भी कोई इस प्रकार चिंतन करे तो वही हो जाएगा स या इत्यादि का में स यो अन्यो भी हाँ देवता से भिन्न भी कोई हो चाहे दानव हो मानव हो कोई भी हो यदि इस प्रकार चिंतन करता हो ओंकार का स यो अन्यो भी देववत एवं देवता के समान ही मुक्त हो जाएगा अमृत हो जाएगा अभय हो जाएगा एतद अक्षरम एतम अमृतम अभयम गुणम विद्वान प्रणवती स्तवती कहा देवताओं ने जैसे वहां उपासना की थी उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति यदि उपासना उस प्रकार करता हो एतद अक्षरम एवं इस प्रकार कैसे था अमृत और अभय गुण वाला है ऐसा विद्वान प्रणति ऐसे जानने वाला व्यक्ति उपासना करता है तो क्या होगा स्तौति का अर्थ उपासनम एवं अत्र स्तुति अभिप्रेता यह स्तुति माने कोई प्रशंसा आदि नहीं क्या है उपासना ही स्थिति है चिंतन करता है ब्रह्म बुद्धि से चिंतन करता है ठीक है क्योंकि ब्रह्म के चिंतन होना नहीं इसी में ब्रह्म बुद्धि से चिंतन करना होता है एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञातवा ब्रह्मलोक मही यते कठोपनिषद में ना यही आलम्बन है ब्रह्म प्राप्ति का साधन यही है मुख्य साधन आलम्बन यही है क्योंकि ये तद भाई तद बार बार यही बोले तुमने जो पूछा था ना यही है वो कौन ओम ओम इत्येत क्योंकि ब्रह्म का निरूपण करना तो अवाच्य है कैसे उसके प्रतीक का निरूपण करके थोड़ा साधन बता दिया यही इसी करोगे तो मिलेगा वो साधन साध्य तो प्राप्त ही है अप्राप्त हटाना है तो साधन बता दिया कठोर परिषद यही है तो एक सयो अन्यो भी देववत एवं ये तद अक्षर एवं अमृत अवय गुणम अन्य व्यक्ति भी देवताओं के समान ही अमृत अवय हो जाता है इस अक्षर को अमृत अवय गुण वाला को विद्वान प्रणोदित होती मान उपासनम एवं अत्र स्तुति है यहाँ स्तौति का अर्थ क्या है उपासना उपास अर्थ होगा उपासना करता है चिंतन करता है यह अर्थ है सब तथा वो उपासक भी वैसे जैसे देवता अमर और अभय हो गए वैसे हो जाएगा तथा ये तदैव अक्षरम स्वरम अमृतम अभयम प्रक्षण इसी अक्षर को प्रवेश करना माने ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाएगा प्रवेश कर जाता है कहा तत्प्रविश्यत राजकुलम प्रविष्टानाम राज्यो अंतरंग बहिरंग तावत न परस्य ब्रह्मणो अंतरंग बहिरंगता विशेषण कहते हैं वहां प्रवेश करने पर भी भीतर बाहर होगा अंतरंग बहिरंग बन जाएगा ये बहिरंग में चला जाएगा थोड़ा दूर होगा अन्य लोग भीतर होंगे जैसे राजा के घर में कोई प्रवेश कर गए राजगृह में जाने वाले कोई तो मंत्री बन के बैठा है कोई छोटा चपरासी बन के बैठा है वहां अंतरंग बहिरंग भाव है वैसे ब्रह्म में पहुंचने पर भी ये स्थिति होगी हाँ। ये उपासक तो छोटा था छोटा ही रहेगा वहां भी दूसरे बड़े घर गए तो देवता गए तो बड़े स्थान में होंगे वहां ये शंका हो सकती है यही गया तत्प्रविश्य उसमें प्रवेश करने करके राजकुलम प्रविष्टांत ये भेदरे की दृष्टांत है जैसे राजकुल में प्रविष्ट व्यक्तियों का भेदभाव होता है अंतरंग बहिरंग हो जाते हैं छोटे बड़े स्थान मिलेगा ऐसा होगा स्वर्ग आदि में जाने वालों का भी छोटे बड़े स्थान है सबको एक स्थान नहीं मिलता कोई इंद्र बनता है कोई किसी को गंधर्व बनना पड़ेगा किसी को कुछ बनना पड़ेगा एक स्थान नहीं है वहां राजकुल में प्रविष्ट जैसा है वो जैसे जैसे कर्म होगा उसके आधार पर है किंतु यदि उपासना होगी एक ही उपासना तो एक ही बनना वहां भेदभाव नहीं होगा ये बोलते हैं व्यतिरिक दृष्टान दे रहे हैं तत्प्रविष्ट राजकुलम प्रविष्टानांग जैसे राजकुल में प्रविष्ट लोगों का राज्यों अंतरंग है वहां दो भेद होता है राजा का कुछ लोग तो अंतरंग हो जाते हैं नजदीक के हो जाते हैं कुछ दूर के हो जाते हैं हम्म। ऐसी स्थिति है तो उस प्रकार न पर से ब्रह्मण अंतरंग बहिरंगता विशेष पर ब्रह्म में ऐसा अंतरंग बहिरंगता विशेष जो भी पहुंचे समान हो जाता है वहां जो भी होगा सिंह होगा बरा बरा होगा ब्रिकोबा सब एक हो जाना सुश्रुति में जब ऐसी है उसके ऊपर आई सब एक हो जाते हैं वहां भेदभाव नहीं वहां किमतरी फिर क्या होना जैसे देवता अमर हो गए थे ये भी अमर हो जाएगा वहां भेदभाव नहीं वहां मर अमर वाले भेद नहीं रहेगा किम ही प्रश्न आया फिर क्या होगा भेद नहीं होगा तो कहा यद अमृता देवा ये ना अमृतत्व यद अमृता जिस अमृतत्व के द्वारा उपासना करने से अमर हो गए थे देवता लोग अभुवन अमृत आगुवन तेरह अमृतत्व वही अमृतत्व इसके पास भी है इसलिए विशिष्ट उसी से से तद अमृतो भवती वो भी अमृत हो जाता है न न्यूनता ना भी अधिकता यहाँ न्यूनता और अधिकता नहीं है यहाँ हम्म। बाकी कर्मों में होता है न्यूनता अधिकता जैसे जैसे कर्म वैसे वैसे वेद वहां न्यूनता अधिकता है यहाँ नहीं है ज्ञान में न्यूनता अधिकता नहीं होती है ना भी अधिकता अमृतत्व अमृतत्व में न्यूनता भी नहीं है अधिकता भी नहीं है या समान है ये ठीक है राजगृह प्रविष्ट से विशेष दर्शनाथ राजा के घर में प्रवेश करने वाले विशेष जगह कोई अंतरंग हो जाता है बहिरंग हो जाता है भेदभाव है वहां तो वैसे ही उस ब्रह्म में पहुंचने वालों में भेदभाव होगा ओंकार के सहारा लेकर के गए थे वहां भी भेदभाव होगा छोटे बड़े भाव से होगा कहते नहीं राजगृह प्रविष्ट से विशेष दर्शनाथ राजगृह में प्रवेश करने वाले विशेष जगह भेद देखा है अक्षरम प्रविष्ट फले विशेष अक्षर में प्रविष्ट किया उपासना तो सभी ने किया है किंतु फल में विशेषता होगी ब्रह्म भाव प्राप्ति में विशेषता होगी जैसे राजगुण में प्रविष्ट हुए व्यक्ति का विशेषता है भिन्न भिन्न स्थान मिलता है कहते तत् शंका करके उत्तर दिया नहीं तत्प्रविष्ट ऐसा नहीं राजकुल के जैसा नहीं है व्यतिरिक्त दृष्टांत दिया अमृतत्व विशिष्टा इतिशेष अमृतत्व से विशिष्ट है देवता लोग इसलिए अमर हो गए ऐसा है देव यद अमृत एन अमृत निविष्टा यद अमृता ऐसा है जिस अमृतत्व से विशिष्ट हो गए देवता लोग उसको यद अमृता कहा अभुवन अमर हो गए जो लोग ऐसा आगे आगे टीका में कहते हैं खंडांतर से तात्पर्य महा अब पंचम खंड आरंभ करना है इसका तात्पर्य बताते हैं पहले अवतरण राशि में प्राण आदित्य दृष्टि विशिष्ट उद्गीत उपासनम उत्तम कहते हैं प्राण दृष्टि से उदगीत की ओंकार ओंकार की उपासना बताई थी हम्म, द्वितीय खंड में और आदित्य दृष्टि से उदगीत उपासना बताई थी तृतीय खंड में तृतीय खंड में प्राण रूप से और तृतीय खंड में आदित्य रूप से उदगीत की उपासना बताई थी आदित्य दृष्टि से द्वितीय खंड में प्राण दृष्टि से कहा था हम्म, प्राणादित्य विशिष्ट उदगीत उपासनम उत्तम प्राण विशिष्ट और आदित्य विशिष्ट उदगीत की उपासना पूर्व में कहा द्वितीय खंड और तृतीय खंड में यही है ये प्रथम अध्याय द्वितीय खंड में प्राण दृष्टि से उदगित उपासना और तृतीय खंड में आदित्य दृष्टि से उदगित उपासना ये पूर्व में बता दिया अब उसी को अनुवाद करके वही उदगित को जो प्राण और आदित्य से अभेद हुआ उदगित है प्राण और आदित्य से अभेद करके रखा हुआ है वो दोनों को एक भी किया था तो उससे प्रणव और उद्गीत और एकत्व कृतो अब प्रणव और उद्गीत के एकत्व करके उपासना बदलानी है यहाँ ये जो प्रणव है वही उद्गीत है जो उद्गीत है वो प्रणव है जो प्राण और आदित्य से अभिन्न हुआ उद्गीत है उस उद्गीत के साथ प्रणव का अभी अभेद करेंगे यहाँ ये पंचम खंड में जो द्वितीय खंड तृतीय खंड की बातें हैं वही बातों को पुष्टि करना है वहां पर प्राण दृष्टि से उदगित उपासना और आदित्य दृष्टि से उदगित उपासना दोनों के अभेद दृष्टि से भी कहा था अब यहां पर वो जो प्राण और आदित्य से अभिन्न हुआ उदगित के साथ प्रणव के साथ अभेद करेंगे प्रणव और उदगित का अभेद करके उपासना बताएंगे ये कहना चाहते हैं उसी का अनुवाद करके प्रणव उदगीत और एकत्व कृतवा प्रणव और उदगीत को एकत्व करके यहां तस्मिन उस प्रणव से अभिन्न हुआ उदगीत में क्या करेंगे प्राण रश्मि भेद गुण विशिष्ट दृष्टिया हाँ, उसमें प्राण भेद दृष्टि से उपासना करना कहेंगे या कौशित की अपने पुत्र को बताएंगे कुशित के संतान कौशित के कहेंगे ये को मैंने प्राण और प्राणों में अभेद कहा इंद्रिय और मुख्य प्राण में भेद नहीं समझा एक ही समझा इसलिए मेरे तुम एक पुत्र हुए इसलिए तुम क्या करो इंद्रिय को अलग करो मुख्य प्राण को अलग करो भेद पूर्व उपासना करो जिसके तुम्हारे अनेक पुत्र हो जाएंगे दूसरा उसी प्रकार मैंने जब आदित्य की उपासना की थी उद्गित दृष्टि से मैंने रश्मि और आदित्य को एक ही समझा था तो तुम एक पुत्र हुए इसका फलस्वरूप एकत्व तो दृष्टि उपासना की किंतु तुम रश्मि और आदित्य को अलग करके करना तुम्हारे अनेक पुत्र हो जाएंगे फल मिलेगा ये बोलना चाहते हैं यहां प्रणव और उदगित को एकत्व तो दृष्टि से करना जो कि प्राण और आदित्य दृष्टि से उदगित उपासना पहले बता चुकी है जो प्राण और आदित्य से अभिन्न हुआ उदगित है उस उदगित के साथ में अभी प्रणव के साथ में अभेद करना ये पंचम खंड का तात्पर्य है कृतवा तस्मिन वो जो प्रणव से अभिन्न हुआ जो उदगित होगा उसमें प्राण रश्मि भेद गुण विशिष्ट प्राण भेद और रश्मि भेद प्राणों में इंद्रियों भी प्राण है मुख्य प्राण भी प्राण है मुख्य प्राण से इंद्रियों को अलग करके उपासना करो ऐसा बताएंगे और आदित्य और रश्मि रश्मि को पुंज ही आदित्य होता है एक मुख्य है मान ये रश्मि होगा पुंज आदित्य है प्रकाश पुंज है आदित्य में फिर भी भेद करके तुम उपासना करना आदित्य अलग है रश्मि अलग है समझना इसे अनेक पुत्र होंगे कहेंगे ये कहना चाहते हैं गुण विशुद्ध से दृष्टिया अक्षर उपासनम अनेक पुत्र फलम जब भेद दृष्टि से उपासना करेंगे प्राण इंद्रिय और प्राण को अलग करना और रश्मि और आदित्य को अलग करके करने से क्या होगा अनेक पुत्र फल होगा इसका इधानी वक्तव्य बतलाना है इति आरभ्य इसके लिए आरंभ होगा पंचम खंड का आरंभ इसलिए कहा मंत्र है अथ कलु या उद्गीत स प्रणवो यह प्रणव स उद्गीत असौ भाव आदित्य उद्गीत एष प्रणव ओमिति स्वरमेती अथ खलु य उदगीत स प्रणवो यः प्रणव स उदगीत असौवादित्य असौ वादित्य उद्गीत एष प्रणव ओमिति सोर ओमिति एष स्वरणेति अथ अनंतर अब अथ खलु या उद्गीत जो प्राण से अभिन्न उद्गीत और आदित्य से अभिन्न उद्गीत हुआ था द्वितीय खंड तृतीय खंड में प्राण से अभिन्न करके उगति प्राण दृष्टि से उदगित उपासना बताई थी और आदित्य दृष्टि से तृतीय खंड में उदगित उपासना बताई थी वही यहाँ उदगित वही उदगित जो प्राण से अभिन्न है आदित्य से अभिन्न हुआ उदगित है वही प्रणव है वही उदगित प्रणव है या उदगित है सब प्रणव मान द्वितीय खंड और तृतीय खंड से इसका पंचम खंड का संबंध है वहां प्राण दृष्टि से उदगित उपासना तृतीय खंड में आदित्य दृष्टि से उदगित उपासना बताई गई थी वही उद्गीत को लेकर के यहां बोल रहे हैं जो उद्गीत कहा था ना प्राण दृष्टि से और आदित्य जो उद्गीत उपासना वही यहां वो प्रणव है और यह प्रणव स उद्गीत जो प्रणव है वही उद्गीत है हम्म, प्रणव माने तो उनका प्रणव का एक और भी अर्थ करते हैं लोग माने अवयव का अर्थ करते हैं प्र माने प्रपंच न माने नास्ती ब माने युष्मातम ऐसा बोलने वाले को प्रणव कहा जाता है तुम लोगों में प्रपंच नहीं है तुम सचिदान आत्मा हो ऐसा कहने वाले को प्रणव कहते हैं प्रमाण प्रपंच पकार है न मन नास्ती व मन युष्मादम युष्मादम प्रपंचो नास्ती ऐसा अर्थ भी होता है प्रणव ओंकार है मुख्य रूप से ओंकार है तो अथ खलु अब अनंतर यह उदगीत स प्रणव या प्रणव स उदगीत जो उदगीत है वही प्रणव है और जो प्रणव है मान दोनों में अभेद करना जो यह है वह वह जो वह है वह यही है एकत्व करना दोनों में प्रणव और उदगीत में अभेद जो उदगीत प्राण दृष्टि से उपासित उदगीत और आदित्य दृष्टि से उपासित उदगीत जो द्वितीय खंड तृतीय खंड से संबंधित है वही यहाँ प्रणव है और वही उदगीत है कहा तो ये ऐसा कहा और असौबा असौबई आदित्य उदित है वो जो आदित्य उसी को उदित करते हैं तृतीय खंड मान उसको उदित करके आए हैं और ये सब प्रणव और यही आदित्य ही प्रणव है उदगित और प्रणव में अभेद है वो आदित्य उद्गित है तो वही ये समान ही आदित्य ये प्रणव है ओम इति ही ऐसे स्वरण ये क्यों ये ओमकार के उच्चारण करता हुआ चलता है आदित्य कहते हैं मैंने अनुमति देता है प्राणियों के कर्म करने के लिए अनुमति देता है ओम अनुमति का वाचक शब्द है जो स्वीकार में प्रयोग होता है ओम शब्द आम शब्द संस्कृत में सत्य शब्द पूर्ण स्वीकार के लिए प्रयोग नहीं होता अर्धांगीकार है वो अब सत्य कहते हैं किंतु वहां किंतु लगता है बात तो ऐसी है अब ठीक कह रहे हैं किंतु बात तो ऐसी है सत्य शब्द जो बोला जाता है वो पूर्ण स्वीकार नहीं होता अर्ध स्वीकार नहीं होता वहां बात काट देता है हाँ, वहां किंतु लगा देता है किंतु लगाने पर अपने ही चलाएगा आपने कहा ठीक है किंतु बात तो यह है ऐसा होता है सत्य का अर्थ अर्धांगीकार में प्रयोग होता है सत्य जो शब्द होता है अव्य है किंतु ओम आम ये दो शब्द हैं अव्य है ये पूर्ण स्वीकार के लिए होते हैं संस्कृत में पूर्ण स्वीकार करने के लिए ओम बोला जाता है तो अनुमति देता है आदित्य यही है अनुमति का अनुमति का सूचक है ये ओम इसलिए या ओम इति स्वरणी का अर्थ प्राणियों के कर्म करने के लिए अनुमति देता है प्राणी कर्म करना चाह रहे अधेरे थे अधेरा थे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे तो हम काम करें हम्म, कर्म करने के लिए सब अपने धंधा में चलना है तो सूर्य ने कहा ठीक है आप करो काम अनुमति का सूचक है सूर्य का इसलिए ओम ऐसा उच्चारण तो नहीं करता अनुमति का काम करता है प्राणियों को अनुमति देने का काम करता है यह अनुमति का वाचक शब्द है ये ओम कोई बोलेगा ऐसा करूं तो बोला ओम हाँ ठीक है ये हो जाता है ऐसा कहा तो ये कहा ये प्रणव ये आदित्य प्रणव ओम इति ही ऐसा ही मन यस्मात ओम इति ही ऐसा स्वरण एति ये आदित्य स्वरण एति गच्छति चलता है अनुमति देता हुआ जाता है प्राणियों के कर्म करने के लिए अनुमति देता है सूर्योदय हो गया प्राणी कर्म करने लगते अनुमति देता है वो ऐसा है एक भाष्य में कहते हैं अध खलु यह उदगीत जो उदगीत है जो द्वितीय द्वितीय खंड तृतीय खंड में कहा हुआ है तृतीय खंड का उदगीत है आदित्य दृष्टि से जो उद्गीत उपासना बताई थी उद्गीत सब प्रणव उसको यहाँ प्रणव से तो करना उदगीत को सब प्रणव जो उद्गीत है वो प्रणव है बहुरिचा नाम माने ऋग्वेदी लोगों का प्रणव है जो उद्गीत है ऋग्वेदी लोग उसको प्रणव कहते हैं माने ऋग्वेदी ओंकार को प्रणव शब्द से बोलते हैं बहुरिचा नाम बहवो ऋचा येसु जिन लोगों में बहुत ऋचा ऐसा बहुत ऋचा है जिन तो ऋग्वेदी होते हैं बहुत ऋचा यश प्रणव तेषाम एवं तेषाम सएव छांदोग्य उदगित शब्दवाच्य कहते हैं जो प्रणव है कोई हम्म, प्रणव क्या होगा तेषाम सएव छांदोग्य उन्हीं का जो ऋग्वेदियों का के में क्या हो जाता है वो उदगित शब्द का वाच्य होता है में उदगित कहते हैं ऋग्वेद में प्रणव कहते हैं बात एक ही है ऋग्वेद में प्रणव शब्द से कहा जाता है छांदोग्य में उद्गीत शब्द से कहा जाता है ये उद्गीत प्रकरण ही चल रहा है उन्हीं के लिए ऐसा है छांदोग्य में आते हैं तो वही ऋग्वेदी लोग उद्गीत बोलते हैं और ऋग्वेद पढ़ते समय में प्रणव करते हैं बात एक ही उद्गीत और प्रणव एक ही चीज है ये कहा अब उद्गीत आदित्य के साथ में अवेद करते हैं असौ का आदित्य उद्गीत वो जो बई असौ भाई वो जो आदित्य ऊपर है वही उद्गीत है ये सब प्रणव और यही आदित्य प्रणव भी है उद्गीत और प्रणव एक ही है प्रणव प्रणव शब्द भी सहेव कहा प्रणव शब्द का वाच्य भी वही है कौन सहेव आदित्य वही आदित्य है बहुरिचा नाम बहुरिचा वाले प्रणव शब्द से बोलते हैं वह आदित्य को ही बोलते हैं ऋग्वेदी लोग बहुरिचा होते हैं ऋग्वेदी को बहुरिच बोलते हैं इनका वही है अन्य नहीं उदगित आदित्य कथम उदगित आदित्य कहा तो प्रश्न आया कैसे उदगित आदित्य हो गए प्रश्न आया कहते हैं देखो भाई उदगिताख्यम अक्षरम उदगित नामक जो अक्षर है ओमकार उदगित नामक जो अक्षर है ओमकार हाँ, ओम इति तथ ओम शब्द होता है उदगित नाम का उसका इति तथ ये सही यस्मात ये जो आदित्य है जिस कारण से ही माने यस्मात स्वरण उच्चारण ओम का उच्चारण करता हुआ निकलता है चलता है आकाश में चलता है उच्चारण अनेक अर्थत्व धातु ना यद्यपि सूर्य धातु गत्यर्थक होना चाहिए किंतु यहां पर उच्चारण करने अर्थ में शब्द करने अर्थ में कैसे आ गया उच्चारण मैंने शब्द शब्द करने अर्थ कैसे आ गया तो कहते धातु नाम अनेक अर्थ धातु एक ही अर्थ नहीं होता जितने अर्थ बताया बहुत सारे अर्थ होते हैं उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं जब जब वहां उपसर्ग आदि आ जाएंगे तो वो जो छिपे हुए अर्थ प्रकट हो जाते हैं धातु नाम अनेक अर्थ धातु का अनेक अर्थ होते हैं इसलिए यहां गच्छन गच्छन न बोल करके कहा उच्चारयन शब्द कर दिया स्वरण का अर्थ उच्चारयन कहा अथवा स्वरण गच्छन ये थी अथवा ये हो जाएगा अथवा स्वरण का अर्थ गच्छन चलता हुआ ये अर्थ भी कर सकते हैं ये कहा अतो सब उदगित सविता इसलिए उदगित सविता ही है उदगित शब्द का वाच्य सविता है आदित्य है कहा ठीक हम प्रणव से उदगित एकम कृत्वा तस्मिन सती अध्यात्म प्राण दृष्टिया अधिदैवतम आदित्य दृष्टिया विशिष्ट से उदगित से यदुपासन उत्तम कहते हैं देखो प्रणव और उदगित को एक करके प्रणव और उदगित को एक बना करे जो प्रणव है वही उदगित है क्योंकि ऋग्वेदी लोग प्रणव कहते हैं छांदोगे में उदगित कहते हैं बाद एक ही है वो छांदोगे पढ़ते समय उदगित शब्द से बोलते हैं और ऋग्वेद पढ़ते समय में प्रणव शब्द से प्रणव शब्द से बोलते हैं कहा प्रणव से उदगित से एकत्म कृता दोनों को एक करके तस्मिन उसमें वो जो प्रणव उद्गीत में तस्मिन सती उसमें होने पर अध्यात्म प्रणव के होने पर अध्यात्म दृष्टि अध्यात्म प्राण दृष्टि अध्यात्म उपासना प्राण दृष्टि से द्वितीय खंड में बताया था इसी में प्राण दृष्टि से उपासना करना कहा था और अधिदैवतम आदित्य दृष्टि है उसी उद्गीत प्रणव में अधिदैवत उपासना बताई थी तृतीय खंड में देवता संबंधी आदित्य दृष्टि से उपासना करना कहा था तृतीय खंड में था यह दृष्टि अर्थ विशिष्ट से अलग अलग करके जो उदगित की यद उपासना उत्तम भिन्न भिन्न करके कहा था अध्यात्म दृष्टि और अधिदैव दृष्टि से उपासना बताई गई थी द्वितीय खंड में अध्यात्म दृष्टि से प्राण दृष्टि से उपासना बताई थी तृतीय खंड में अधिदैव दृष्टि से आदित्य दृष्टि से उपासना बताई थी बताई तो उदगित की थी उपासना ओंकार की थी अच्छा यद उपासना उत्तम जो उपासना पूर्व में कही गई है द्वितीय खंड तृतीय खंड में तदेव अनुद्य उसी का अनुवाद करके है वही द्वितीय खंड तृतीय खंड का अध्यात्म और अध्याय को अनुवाद करके निंदित्व नहीं नहीं भिन्न भिन्न उपासना करना ठीक नहीं है निंदा करके हाँ एक ही करके उपासना करना चाहिए ऐसा निंदित्वा प्राणानाम रसिनाम तो भेद है उसका अनुवाद करके क्या करते हैं निंदा करके बोलते हैं प्राण और रश्मि का भेद करना जब अध्यात्म उपासना चले प्राणों में भेद कर देना माने इंद्रिय भी प्राण है मुख्य प्राण भी प्राण है दोनों भेद करके उपासना करना इससे अनेक पुत्र फल होगा मैंने एक ही मान के उपासना किया एक पुत्र तुम्हारा फल हुआ तुम बने ऐसा कौशी देखिए अपने पुत्र से कहते हैं ऐसा आएगा मंत्र में आगे अच्छा और रश्मि नाम जो रश्मि और आदित्य में भी भेद करने से अनेक पुत्र होंगे ये कहना चाहते हैं भेद एवं गुण भेद भी गुण होगा तद विशिष्ट दृष्टिया माने भेद विशिष्ट दृष्टि से उपासना करने से तस्व उदीगिता अवयव से अक्षर से अनेक पुत्र फलम कहते हैं वही उद्गित उपासना करने से अनेक पुत्र फल होगा अनेक पुत्र मिलेंगे ये फल होगा उपासना अनेक पुत्र वाला फल वाला उपासना है अनेक ग्रंथ है ना वक्तव्य माने अनेक ग्रंथ पंचम खंड जो है इसके द्वारा कहना है इस ग्रंथ माने पंचम खंड जो आरंभ हुआ इसके द्वारा कहना चाहिए इति उत्तर ग्रंथ संप्रति प्रस्तुत आगे का ग्रंथ माने पंचम खंड आरंभ होने जा रहा है अब उसका प्रस्ताव करते हैं ये कहा अमृत अभय गुण का अक्षर उपासना अनंतरियम अथ शब्दार्थ पूर्व में उपासना चल रही थी अमृत और अभय गुण विशिष्ट ओंकार की उपासना कह रहे थे चतुर्थ खंड में उसके या अथ शब्द आया मंत्र में इसका अर्थ उसके अनंतर अमृत अभय गुण वाला अक्षर की उपासना के अनंतर जो काम्य कर्म में जो अनेक पुत्र चाहते हैं उनके लिए पंचम खंड है ये बोलना चाह रहे हैं अथ शब्द का अर्थ है अनंतर प्रणव बुद्धिगी था और एकत्व वैदिक प्रसिद्धि प्रदर्शनार्थम खलु एक उत्तम खलु माने निश्चय ही या खलु शब्द निश्चय अर्थ में प्रयोग है प्रणव और उद्गित एक ही है इसमें वैदिक प्रसिद्धि है वेद में एक ही करके कहा है क्योंकि ऋग्वेद में प्रणव कहते हैं तो छांदोग्य में उद्गीत कहते हैं बात एक ही है ऋग्वेद में उद्गित शब्द का प्रयोग नहीं है प्रणव शब्द का प्रयोग और छांदोग्य उद्गित शब्द का प्रयोग भाई वही कहा प्रणव उदगी और एकत्व दोनों एक होने में वैदिक प्रसिद्धि वैदिक प्रसिद्धि है वेद में प्रसिद्धि है इसकी प्रदर्शनार्थम खलु तो इसलिए इसलिए खलु का अवश्य ही निश्चय ही खलु शब्द दिया कहा तयोर एकत्व उक्त आदित्य दृष्टिया उदगित उपास्तम उक्ताम अनुवदती वो दोनों को एक करके हम्म, प्रणव और उदगित एक करके आदित्य दृष्टि से उदगित उपास्ति जो कही गई थी पूर्व में तृतीय खंड में कहा था उसके अनुवाद करते हैं अब पंचम खंड में मैंने प्रणव और उदगीत को एकत्व करके और आदित्य दृष्टि से उपासना बताई गई थी तृतीय खंड में उसका अनुवाद यहाँ करते हैं कहा उसी का कहा असौ इत्यादि कहा असौ बाबा आदित्य उदगीत तृतीय खंड में अधिदय उपासना में जो बताया था असौ बाबा आदित्य उदगीत कहा था वही यहाँ कहा असौ बाबा आदित्य उदगीत ये सब प्रणव यहाँ ये सब प्रणव जोड़ते यही प्रणव है प्रणाचोट वाक्य भी कहा सैव बहुरिचना अन्य बहुरिचा मान ऋग्वेदियों का वही है आदित्य ही प्रणव है ऐसा कहा ठीक है था आदित्य और एकत्व प्रश्न पूर्वक थे उद्गीत और आदित्य में एकत्व कैसे होगा ये ओम है और आदित्य विषय है कैसे एक होगा प्रश्न पूर्वक था आदित्य कथम ये प्रश्न है उद्गी जो है आदित्य कैसे हुआ ये प्रश्न आया ये बीच का विराम कट जाए तो अच्छा था उदगीता आदित्य कथम ये मिलकर के प्रश्न है उदगीता आदित्य कथम उदगित आदित्य कैसे हो सकता ऐसा प्रश्न आया तो उसके उत्तर देते हैं आगे उदगित इत्यादि ना उदगिताख्यम अक्षरम ओम इति एतद ही यस्मात स्वरम उच्चारयन अनेकार्थक आत्मा कहा ये गच्छति आदि है उदगिताख्य जो अक्षर है ये जो अक्षर है ओम ऐसा अक्षर इसको उच्चारण करता हुआ आदित्य चलता है इसलिए ओंकार और आदित्य एक ही है यह कर लिया ठीक है उच्चारण एति इति संबंध उच्चारण के साथ आगे एति जो क्रिया है उसके साथ संबंध कर देना उच्चारण एति उच्चारण करता हुआ सूर्य चलता है या अर्थ करना कहा स्वरतेर गत्यर्थत्वाद कथम उच्चारयन इति उच्चते स्वर धातु तो गत्यर्थक है स्त्री गतऊ धातु पाठ में ऐसा शंका आ गई श्री धातु गत्यर्थक है फिर उच्चारण करना कैसे अर्थ आएगा ये प्रश्न उठा तब तो कहते हैं उत्तर देते हैं अनेक अर्थत्व धातु नाम धातु का अनेक अर्थ होते हैं जो अर्थ वहां निर्देश किया उतना ही अर्थ नहीं धातु पाठ में जितना अर्थ निर्देश किया उतना ही अर्थ नहीं होता धातु का अनेक अर्थ होते हैं ठीक है कहते हैं गच्छन सविता प्राणी नाम प्रवृत्ति अर्थम ओम इति अनुज्ञा कुरबन गच्छति जब सूर्य चलता है उदय होकर के जब चलता है तो क्या गच्छन सविता चलता हुआ सविता प्राणी नाम प्रवृत्ति अर्थम प्राणियों की प्रवृत्ति के लिए सूर्य उदय होता है सोए हुए होते हैं सूर्य नहीं तो सो जाते हैं सब सूर्य उदय होने पर अपने अपने चिड़िया भी अपने धंधे में लग जाती है पशु पक्षी मनुष्य सब अपने अपने धंधे में लग जाते हैं आहार विहार आदि में काम में लग जाते हैं प्रवृत्ति यही है प्राणियों का तो प्राणी नाम गच्छम सविता जो चलता हुआ सविता है प्राणी नाम प्रवृत्ति अर्थम प्राणियों के प्रवृत्ति के लिए ओम इति अनुज्ञा ठीक है कल जैसा काम किया आज भी कर लो आप अनुमति ये हम काम करें बैठे हुए रात भर मुझे हाँ, पूछ रहे थे अब हाँ करो मैं उग गया हूं उदय हो गया मेरा ऐसा बोल देता है प्रवृत्ति ओम यदि अनुज्ञान कुर्बम ये अनुमति मांग रहे थे हम काम करें काम करें पूछ रहे थे उन्होंने अनुमति दे दी हाँ करो आप कोई खतरा नहीं पूर्वन इव माने अनुज्ञा करता हुआ जैसा वास्तव में अनुज्ञा ओम ऐसा अनुमति देता नहीं है किंतु ऐसा लगता है कि उनकी प्रवृत्ति हो जाती है अनुमति पाने से काम करते हैं लोग तो अनुमति मिल गई है ऐसे सोच के काम करते हैं इसलिए ईवा लगा के बोलते हैं पूर्व नहीं गच्छति तस्मात ओंकार सविदुर इत्या इसलिए सविता में ओंकारत्व है ये कहा अथवा इत्यादि कहा अथवा स्वरण गच्छन ये कहा इत्यादि कहा था आगे मंत्र है एतम एव अहम अव्यगाशिषम तस्मा मम तमेकोशीति हकौशीतकी पुत्र उवाच रश्मिस्व पर्यावर्तया बहवो वैते भविष्यन्तीति अधिदैवतम् एतमुएव अहम अव्यगाशिषम तस्मा मम आ त्वमेकोशीति पुत्र उवाच रश्मिस्व पर्यावर्तया बहवो वैते भविष्यन्तीत्यैतम् एतम् एव अहम अव्यकाशिषम् मैंने प्रमुख रूप से यही उपासना की थी एकत्व मान एकम एक वचन है मैंने एकत्व मान करके उपासना की थी आदित्य और रश्मि की अधिदैवत उपासना में आदित्य रश्मि को अवेद करके उपासना की थी एकम एक वचन एकत्व मानकर एवं हम अभि अगाशिषम लुंग लकार है गई शब्दे गई धातु है लुंग शीष का रूप है यहाँ पर आदेश उपदेश आत्तो हो गया आत्तो होने पर यमरमणा आतम शब्द शब्द आया इट भी आ गया अगाशिषण हुआ अभी लगा अभ्यगाशिषण यही शब्द मैंने गान किया यही मान करके उपासना की जाते हैं <clears throat> मैंने ऐसे गान किया था एकत्व तो मानकर तस्मात ममत्व में को सी मैंने एकत्व तो मान करके गान किया इसलिए मेरे तुम एक हो गए हाँ कौशित कौशित के भी पुत्र मुबाच है कौशित ऋषि ने कुशित के संतान कौशित की है उन्होंने अपने पुत्र से ऐसा कहा मैंने आदित्य और रश्मि को एक करके गान किया था उद्गान किया था इसके लिए तुम एक हो गए मेरे अच्छा। रश्मि तुम पर्यावरण है रश्मि की तुम पृथक करो आदित्य से और भेद दृष्टि करो बहबो वही ते भविष्य तुम्हारे बहुत पुत्र हो जाएंगे इति अधिदेवत हम अधिदेवत उपासना है आगे अध्यात्म उपासना आगे बताएंगे ये कहना है ठीक है भाई आदित्य दृष्टिया उदगीतम हम उपदिष्टम अनुत्य निंदती पहले आदित्य को ओंकार बोल करके उदगित बोल करके एक ही दृष्टि से बताई थी तृतीय खंड में आदित्य दृष्टि से उदगित उपासना बताई थी उसके निंदा करके अब यहां बताते हैं भेद करके करना आदित्य और रश्मि भेद करना बोलते हैं तम एतम भाष्य में कहा तम एतम उ इसी को मैंने एवं अहम अभ्यगाशिषम अभिमुखे न गीतवान मैंने इसको गान किया सामने करके आदित्य को एक मान करके उपासना की आदित्य रश्मि अभेदम कृत्वा ध्यानम कृतवान रश्मि अर्थ है आदित्य और रश्मि किरणों को एक करके मैंने उपासना की थी ऐसा कौशिक के ऋषि बोल रहे हैं अपने पुत्र से यत जिस कारण से तस्मात कारणाद इसी कारण से ममा तुम्हें के उसी पुत्र ही थी इसलिए मेरे यहां तुम अकेले पुत्र हो गए हाँ कौशिक की ये कौशित्य के ऋषि ने कहा क्यों कौशित्य की कहा कुशित की संतान है दशरथ के संतान से दासरथी कुशित के संतान को कौशित की यह प्रत्यय लगा हुआ है कौशित की मानी कुशित अपत्यम कौशित की कहा कुशित ऋषि के संतान है इसलिए कौशित की कहा उन्होंने पुत्रम उवाच उक्तवान पुत्र को ऐसा कहा किंतु अतो अब तुम क्या काम करो अनेक पुत्र के लिए तुम रश्मिन आदित्यम च भेदेन तुम पर्यावरित तुम रश्मि को किरणों को और आदित्य को अलग अलग करो ऐसे करके उपासना करो पर्यावर्त पर्यावर्तया गाना तो माने पर्यावर्तया प्रथम पुरुष दिया हुआ है और तोम लगा हुआ है तो तोम लगने से मध्यम पुरुष होना चाहिए इसलिए पर्यावरत होना चाहिए पाठ लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन पर्यावर्तया ऐसा ये अर्थ लेना क्योंकि तोम के साथ में युष्मत के साथ में प्रथम पुरुष होगा नहीं पर्यावर्तया प्रथम पुरुष लगा दिया वो तो श्रुति है स्वच्छंद है वो इसलिए भाष्यकार कहते हैं पर्यावरित याद का अर्थ करना पर्यावर्त यह ही का लुप कर देना है मध्यम पुरुष एक वचन ये करना कहा क्यों पर्यावर्त है क्यों करना पर्यावर्त याद कर देना तोम योगा तोम का योग है युष्मत का योग है मध्यम पुरुष का योग है युष्मत के ऊपर उपदेश भी समानाधिकरण स्थान भी मध्यम मध्यम पुरुष होगा प्रथम पुरुष नहीं होगा तुम जाता है ऐसा अर्थ नहीं होता है ना तुम जाते हो बोलना पड़ेगा क्या बोलना पड़ेगा हाँ। तुम जाता है ऐसा नहीं बनता हाँ। वहां तुम तुम और वहां जाता है प्रथम पुरुष उधर मध्यम पुरुष नहीं होता क्रिया प्रथम पुरुष की और कर्ता मध्यम पुरुष नहीं होता हिंदी में भी नहीं होता किसी भाषा में नहीं होता हाँ। वह जाते जाता हूं ऐसा भी नहीं होगा वह जाता हूं होता है क्या वो प्रथम पुरुष है और इधर उत्तम पुरुष ये भी नहीं होता प्रथम पुरुष के करता है तो प्रथम पुरुष की क्रिया ऐसा हो यही कहा एवं बहबो वही ते तब पुत्र भविष्य अयोधतों का इस तरह रश्मि और आदित्य को भेद करके उपासना करोगे तो तुम्हारे बहुत सारे पुत्र हो जाएंगे ऐसा कौशिक ऋषि ने अपने पुत्र को कहा ये कहा टीका में कहते हैं निंदा फलम दर्शे जो एकत्व दृष्टि से जो किया एक ही पुत्र हुआ निंदा आदित्य और रश्मि को एक करके उपासना करके फल दिखा अतः इत्यादि कहा अतो रश्मिन आदित्यम से भेदे न तुम पर्यावर्त्यात कहा तुम तो भेद करके उपासना करना बेटा इससे फल स्वरूप क्या होगा अनेक पुत्र हो जाएंगे पर्यावर्तयात इति प्रथम पुरुषे सूर्यमाणे किम मध्यम पुरुषों व्याख्या पर्यावर्तयात श्रुति में प्रथम पुरुष का प्रयोग है तो आपने मध्यम पुरुष का पर्यावर्त या ऐसा अर्थ क्यों कर दिया ये शंका होने पर कहा तुम योग कहते तुम का योग है मध्यम पुरुष का करता है इसलिए मध्यम पुरुष की क्रिया लगाना पड़ेगा तुम योगात बोल दिया है क्यों युष्मत उपपदे मध्यम पुरुष विधान है युष्मत शब्द के उपपद होने पर मध्यम पुरुष का ही विधान होगा हम्म, युष्मत उपपदे करने स्थान मध्यम सूत्र है व्याकरण में रस में भेद गुण दृष्टि विशिष्ट उद्गीत उपासना फलम कथेगी रस में और आदित्य में भेद गुण हम्म, दोनों भिन्न है ऐसा गुण करके ऐसे दृष्टि विशिष्ट उपासना उद्गीत उपासना करने से उपासना का फल कथन करते हैं एवं बहबो वही थे तब पुत्रा भविष्य भविष्य इत्यादि कहा तुम्हारे यहाँ बहुत सारे पुत्र हो जाएंगे इससे ऐसा बक्षमाणे अध्यात्म बुद्धि समाधानार्थम उत्तम देवता विषम दर्शन भूषण इति ऐतिदायिकतम क्यों बोलना पड़ा आगे वाले उपासना के अंतकरण को एकाग्र कराने के ये तो अधिदैवत है आगे अध्यात्म सुनने आगे होने वाला है आगे वाले के लिए एकाग्र कराने के लिए कहा इति अधिदैवतम ऐसा बोला नहीं तो क्या आवश्यकता थी अधिदैवतम बोलने की हाँ। ये कहते हैं बक्षमाण जो अध्यात्म उपासना है आगे कहने वाले हैं आगे अध्यात्म वाला प्राण दृष्टि से उपासना करना है प्राण दृष्टि उपासना हो गई है उदगित की किंतु अभी भेद दृष्टि करना है ये भेद क्या करना इंद्रिय प्राण अलग मुख्य प्राण अलग ये करना है बक्षमाण अध्यात्म बुद्धि समाधानार्थम समाधान में एकाग्रता बुद्धि को एकाग्र कराने के लिए उत्तम देवता विषय पूर्व में कहा था ये भी प्रथम द्वितीय खंड में कहा हुआ था प्राण उपासना प्राण दृष्टि से उद्गित उपासना बताई थी वो कहा हुआ था विषय देवता विषय दर्शन उपसंग्रह कहा इति अधिदैवतम ऐसा बोल दिया ये अधिदैवत उपासना हो गई आगे अध्यात्म उपासना है अथ अध्यात्म ययम मुख्य प्राण तम उदीतमुपाशीत ओमिति एस स्वरमेति अथाध्यात्म ययम मुख्य प्राण तम उद्गीतमुपासीतोमिति एस स्वरमेति अथ अध्यात्म अब अध्यात्म उपासना है या एवं मुख्य प्राण जो मुख्य प्राण है जो भीतर चलता है प्राण तो इंद्रियों को भी प्राण बोलते हैं प्राणा विबदिरे ऐसा आया है प्राण झगड़ा कर गए कौन इंद्रिया प्राण शब्द का अर्थ इंद्रिया भी होते हैं ये गौण प्राण है वो मुख्य प्राण के सहारे से जीते हैं इसलिए प्राण कह दिया इनको उसके बिना इनकी गति नहीं है हम्म। इसलिए इनको प्राण शब्द से कहा जाता है प्राण के अधीन होने से प्राण कहा इनको मुख्य प्राण नहीं तो अथ अध्यात्म कहा अब अध्यात्म उपासना कही जाती है या एवं या एव अयम मुख्य प्राण जो मुख्य प्राण है जो प्राण अपान समान ज्ञान उदान रूप से चल रहा है जो तम उद्गीतम उपासित ओम इति कहा वही उद्गीत प्राण की उपासना करे उद्गीत ऐसा उपासना उद्गीत और प्राण को अभेद करके उपासना करे ओम इति कहा ओम मान करके ऐसा ही स्वरण यति का ये भी वो अनुमति देता हुआ चलता है इंद्रिया कहती है हम विषय में जाए अब हम जाओ <laughs> अनुमति देता है उसकी अनुमति बिना जा नहीं सकते अगर मुख्य प्राण निकल जाए ये कहां जा पाएंगे अनुमति देता है इसलिए वो अनुमति के लिए उच्चारण कर देता है ठीक है अनुमति देता हुआ जैसा होता है क्यों इनके विषय में जाने में वही निमित्त है अनुमति दे तभी तो जा पाएंगे अगर वो न रोक दे तो नहीं जा सकता जाते हैं एक अथ अनंतरम भाष्य में टीका में अध्यात्म प्राण दृष्टिया उदगित उपासि में उगता हम अनुमति अध्यात्म प्राण दृष्टि से उदगित उपासना पहले बताई थी कहा द्वितीय खंड में बताई हुई थी हम्म। अब यहाँ पंचम खंड में उसी को फिर अनुवाद कर रहे हैं अध्यात्म दृष्टि मान प्राण दृष्टि से उद्गित उपासना द्वितीय खंड में कहा था अध्यात्म प्राण दृष्टिया उदगित उपास में उगता हूं उद्गित उपास्ति जो कही गई है पूर्व में उसको अनुवाद यहां करते हैं वही प्राण है उसी को यहाँ ओमकार दृष्टि से उपासना करना ओम कहा अथ इत्यादि कहा अथ अनंतरम या अथ शब्द अनंतरिया अधिदैवत उपासना के अनंतर अध्यात्म उच्चते अध्यात्म उपासना कही जाती है <clears throat> यह अयम मुख्य प्राण जो मुख्य प्राण है इंद्रिया नहीं जो भीतर चल रहा प्राण है तम उद्गीत हम उपासित वही उद्गीत है उसकी उपासना करेंगे इत्यादि पूर्ववत पूर्व में जैसे कहा था आदित्य प्रयाय में ऐसे यह भी समझना ऐसे उपासना करें आएगा तथा ओम इति ही ऐसा की स्वरण जैसे आदित्य ओम करके चलता है उच्चारण करता हुआ चलता है वैसे प्राण भी ओम करता हुआ चलता है इंद्रियों को अनुमति देता है कहते हैं कैसा स्वरण ये ओम इति अनुज्ञान पूर्वन इव आदि प्रवृत्ति अर्थम थी हम हाँ, बाघ आदि इंद्रियों की प्रवृत्ति के लिए चलता है ये प्राण ये चलता रहे तो वाघ आदि की प्रवृत्ति होगी नहीं तो नहीं पाई वाणी आदि की प्रवृत्ति तो अनुमति दे रहा हूं यही अनुमति देना होता है जैसे सूर्य अनुमति देता है उसके चलने से प्राणियों में कर्म होता है इसी प्रकार ये प्राण के चलने पर इंद्रियों में प्रवृत्ति होती है एक अनुमति है तथा ओम इति ही ये सर की स्वरण एति ओम इति ही अनुज्ञा पूर्वन ओम ऐसा अनुज्ञा करता हुआ अनुमति अनुज्ञा का अनुमति पूर्व इव अनुमति करता हुआ जैसे वास्तव में ऐसा उच्चारण तो नहीं करता प्राण ओम करके नहीं बोलता अनुमति देता नहीं अनुमति देता हुआ तो कार्य ऐसा हो जाता है उसके रहने पर इनमें प्रवृत्ति होती है अनुमति देता हुआ जैसा बाघ आदि प्रवृत्ति अर्थम यदि बाघ आदि इंद्रियों की प्रवृत्ति के लिए इसके इसका चलना होता है कहा नहीं मरण काले मूर्षो समीपस्था प्राण से ओम कर्म सुनती मरण काल में जो मुमूर्षु व्यक्ति है मरने की इच्छुक है तैयारी है उस स्थिति में उसके आसपास में बैठे हुए लोग होते हैं तो प्राण ने ओम किया ऐसा सुनाई नहीं पड़ता ये कर रहे क्यों वास्तव में ओम का उच्चारण करता नहीं है इसे ईव लगाकर अर्थ किया वाषिका ओम उच्चार अनुमति देने का काम हो रहा है इसलिए ओम का उच्चारण किया ऐसा लगता है क्यों शास्त्रीय कर्मों में जब भी अनुमति देना हो तो ओम बोल देते हैं ऐसा करूं कोई पूछेगा तो ओम बोल देता है ठीक ठीक है करो बोलने के लिए ओ ऐसा बोल देता है अनुमति का सूचक है एक यद सामान्य आदित्य भी ओम करण अनुज्ञा मात्र ये प्राण में ओम का उच्चारण सुनाई नहीं पड़ता मरण काल में इसी के सादृश्य आने से आदित्य में भी तो ओम उच्चारण वो भी नहीं करता वो भी क्रिया वहां दिखाई पड़ती है अनुमति का सूचक प्राणी लोग कर्म करने के लिए उतावले हो रहे थे कर्म करे कर्म करे रात भर रात का खाया पी अब मिट गया है अब फिर खाना पीना है उनको तो वो कर्म करना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा ठीक है करो भाई यही अनुमति का सूचक बना हुआ है उसका उदय होने पर इनकी प्रवृत्ति हो जाती है वैसे प्राण के चलने पर इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है यही ये में वहां अनुज्ञा मात्र ये समझना है कहा ठीक है प्रथम प्राण उदगित है और एकत्व इतिहास क्या प्राण और उदगित में एकत्व कैसे होगा तो कहा तथा कहा जैसे पहले कहा था उसी प्रकार यहां भी है तथा आदित्य और उदगित उदगित में जैसे एकत्व तो कहा उसी प्रकार प्राण और उदगित में एकत्व तो है वो भी आदित्य भी ओम ऐसा उच्चारण करता हुआ चलता है ये भी ओम उच्चारण करता हुआ चलता है अनुमति देने वाला दोनों है इसलिए कहा यथा प्राणीनाम प्रवृत्ति अर्थम ओम इति अनुज्ञान पूर्वन इव आदित्य गति जैसा दृष्टांत है जैसे प्राणियों को प्रवृत्ति के लिए प्राणियों की प्रवृत्ति के लिए अनुमति देता हुआ आदित्य गच्छति चलता है अनुमति देता तो नहीं अनुमति देता हुआ जैसा माने प्राणी कर्म करने चले जाते हैं आदित्य उदय होने पर ऐसे चलता उत्तम पूर्व कहा पूर्व में कहा था पूर्व मंत्र में ठीक इसी प्रकार यहां भी ऐसा ही है कहा माने यहां भी इंद्रियों की प्रवृत्ति के लिए प्राण अनुमति देता हुआ जैसा हो जाता है वो चलने पर इंद्रिया चलती है इसलिए कहा उत्तम एवं के द्वारा हो आई कहा ये जो कहा था उसके चलने पर इंद्रिया चलती है उसके न चलने पर इंद्रिया नहीं चलती मरण काल में देखा इसकी अनुमति नहीं मिलती तो इंद्रिया भी काम करना बंद हो जाती है कहा देखा तो कहते हैं नहीं कहा नहीं मरण काल है मुमूर्षो जो मुमूर्सु व्यक्ति है मरने की इच्छुक है अं-, अंतिम स्थिति में उसका समीप अस्ताव जो समीप में बैठे हुए लोग हैं मुमूर्ष के पास में बैठे हुए लोग हैं प्राण से ओम करणम न सुनती ओमकार माने अनुमति नहीं सुनाई पड़ती है नहीं सुनाई इंद्रिय भी काम करना छोड़ देती है प्रवृत्ति खत्म हो जाती है अनुमति देना बंद हो गया ये सिद्ध हो जाते कहा ठीक है मुमूर्सु समीप हो बंद हो मुमूर्सु के समीप में रहने वाले जो बंधु लोग हैं बंधु माने बांधने वाले को बंधु बोलते हैं लोग में अच्छे शब्द मानते हैं लोग बंधु को मेरे बंधु हैं किंतु यही है बांधने वाले प्रेम से बांध देते हैं शत्रु तो थोड़ा जल्दी छूट जाएगा ये बंधन छूटना मुश्किल है ये बंधु माने बांधने वाले बंध बंधन धातु है उसी से बंधु बनता है बांधने वाले हैं बस इन्हीं के लिए मेरे हैं मेरे हैं मेरे बिना कैसे चलेगा इनका बस करते रहो मरते रहो हाँ, बांधने वाले यही हैं यही होते हैं बांधने वाले इसलिए बंधु कहा वैसे लोग भी सभ्य शब्द से समझते हैं बंधु किंतु गलत शब्द है संस्कृत नहीं पढ़े हैं ना इसलिए अच्छा लगता है इनको बंधु कहने में ये मेरा बंधु है बंधु नहीं शत्रु है ये मानने वाला कोई बंधु ये तो शत्रु होता है संस्कृत पढ़े नहीं इसलिए अच्छा है उनको हम्म। अच्छा, बंद बंद ने धातु पढ़ लिए तो पता लग जाए ये ठीक हम कह रहे हैं मुमूर्ष समीप प्रवर्तिनो बंधवा मुमूर्षों के समीप में रहने वाले जो बंधु लोग हैं घेरा डाल के बैठे हैं वो लोग मरण काले प्राणस्य बाघादि प्रवृत्ति अथवा अनुज्ञा नहीं वेदानंती मरण काल में बाघादि के प्रवृत्ति के लिए प्राण के अनुज्ञाकरण नहीं जानते हैं कि प्राण अनुमति देता हो ऐसा नहीं जानते हैं इसलिए बाघ आदि की प्रवृत्ति भी नहीं होती है प्राण की प्रवृत्ति नहीं वो चलता नहीं तो इनकी प्रवृत्ति बंद हो जाती है उसका चलना ही इनके प्रवृत्ति के कारण है ये सिद्ध हो जाता है इसका तथा जीवत अवस्थायाम ओम इति तद अनुज्ञा प्रसाद यदि जीवत अवस्था में प्राण जो ओम ऐसा अनुमति देता है हम्म। जीवत अवस्थायाम ओम इति तद अनुज्ञा प्रसाद उस प्राण की अनुज्ञा प्रसाद अनुमति के बल से ही एवं बाघादि नाम प्रवृत्ति आलक्ष्य दे उसकी अनुमति से ही बाघादि इंद्रियों की प्रवृत्ति लक्षित होती है तस्मात प्राण से अनुज्ञा मात्र ओम करवंत प्राण क्या है अनुमति देना ही ओम है वास्तव में ओम उच्चारण नहीं करता आदित्य भी ओम उच्चारण नहीं करता उसके चलने पर प्राणियों की प्रवृत्ति होती है अनुमति दे रहा है अनुमति मांग रहे थे तो हाँ ठीक है ऐसा हो जाता है यहाँ अनुमति ओम बोलते हैं तो ओम शब्द इसलिए कहा आदित्य भी ओम शब्द उच्चारण नहीं करता प्राण भी नहीं करता अनुमति <laughs> सूचक ओम है वो उनके होने पर प्रवृत्ति होती है लोगों में इसलिए कहा प्राण आदित्य और अध्यात्म अधिदैवत और प्राण अध्यात्म है आदित्य अधिदैवत है ये दोनों में उदगित तो अविशेषा दोनों ही उद्गीत है प्राण भी उद्गीत है द्वितीय खंड में उद्गित सिद्ध किया है और आदित्य भी उदगित है तृतीय खंड में सिद्ध किया प्राणपद आदित्य भी अनुज्ञा मात्र ओंकरण अवधेयम जैसे प्राण में अनुज्ञा मात्र ओंकरण है इसी प्रकार आदित्य भी बोलता नहीं वो अनुमति देना मात्र ओंकरण समझना वो ओम उच्चारण कहा था उसका अर्थ ओम उच्चारण करता नहीं अनुज्ञा होना है उसके चलने पर प्राणियों की प्रवृत्ति होती है या प्राण के चलने पर इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है इसलिए ऐसा करूं कोई बोले तो ओम बोल देता है वैदिक लोग माने उस बाद प्रवृत्ति होती है ओम के बाद यहां भी वही काम हो रहा है इसलिए ओम शब्द को बोला गया वास्तव में ओम उच्चारण नहीं करते ये कहा ये तत् सामान्यात इत्यादि कहा यह तत् सामान्यात आदित्य भी ओम करण अनुज्ञा मात्र प्राण के सामान्य सादृश्य लेकर के आदित्य भी ओम करण प्रवृत्ति मात्र है इसके लिए अनुमति मात्र है कहा हो गया समय हो गया यहीं रखते फिर तो। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्मोपनिषदम् माहम् ब्रह्म निराकुर्या मा ब्रह्म तदात्मनिरते उपनिषत् सर्वे सन्तु ॐ सा